शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं और अगर एक वक्त मुकर्र न हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी गया होता और वो किसी वक्त में इन पर जरूर अचानक आकर रहेगा और इनको मालूम भी ना होगा ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं जबकि दो तो काफिरों को घेर लेने वाली है जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे नेक अमल करने वालों का यह खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखती हैं और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी और वो सुनने वाला है जानने वाला है और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया तो कह देंगे अल्लाह ने तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने कह दो कि अल्लाह का शुक्र है लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है काश ये लोग समझते फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते खालिस करते हुए उसी के लिए इतात को लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिरक करने लग जाते हैं ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदा उठाएं सो खैर अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग इनके नवाह से उचक लिए जाते हैं क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको जरूर अपने रस्तों पर चला देंगे और अल्लाह तो नेकुकारों के साथ है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अलिफ लाम मीम अहले रूम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे चंद ही साल में पहले भी और बाद में भी अल्लाह ही का हुक्म है और उस रोज मोमिन खुश हो जाएंगे यानी अल्लाह की मदद से वो जिसे चाहता है मदद देता है और वही तो गालिब है बड़ा मेहरबान है ये अल्लाह का वादा है अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं क्या इन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उनको हिकमत से और एक वक्त मुकर्र तक के लिए पैदा किया है और बहुत से लोग अपने परवरदिगार से मिलने के मुनकिर हैं क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की सैर करते तो देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ वो इनसे जोर कुत में कहीं ज्यादा थे और उन्होंने जमीन को जोता और उसको इससे ज्यादा आबाद किया था जो इन्होंने आबाद किया और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आते रहे तो अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे फिर जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम भी बुरा हुआ इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों को झुटलाते और उनकी हंसी उड़ाते रहे थे अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे और जिस दिन कयामत बर्पा होगी गुनाहगार ना उम्मीद हो जाएंगे और उनके बनाए हुए शरीकों में से कोई उनका सिफारिशी ना होगा और वो अपने शरीकों से मुनकर हो जाएंगे और जिस दिन कयामत बर्पा होगी उस रोज वो अलग अलग फिरके हो जाएंगे तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे और जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो अल्लाह की तस्बीह करो यानी नमाज पढ़ो और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना अहल दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं और तमाम उसके फर्माबरदार हैं और वही तो है जो हलकत को पहली दफा पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा और यह उसको बहुत आसान है और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है और वो गालिब है हिकमत वाला है वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो इस तरह हम अकुल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं मगर जो जालिम है वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है और उनका कोई मददगार नहीं सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगैर तबद्दुल नहीं हो सकता यही सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते मोमिनो उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करते रहो और मुशरिकों में न होना और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं उसी की तरफ रुजू करते हुए फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिरक करने लगता है ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें सो खैर फायदे उठा लो करीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिरक करना बताती है और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो जो लोग अल्लाह की रजा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं और जो तुम जक़ात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए तो वो मूजिब बरकत है और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं अल्लाह ही तो है जिसने तुमको पैदा किया फिर उसने तुमको रिस्क दिया फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर जिंदा करेगा भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके वो पाक है और उसकी शान इनके शरीकों से बुलंद है खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब फसाद फैल गया है ताकि अल्लाह उनको उनके बाज अमाल का मजा चखाए अजब नहीं कि वो बाज आ जाए कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका कैसा अंजाम हुआ है उनमें ज्यादातर मुशरक ही थे तो उस रोज से पहले जो अल्लाह की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा सीधे दीन के रस्ते पर सीधा रुख किए चलते रहो कि उस रोज सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे जिस शख्स ने कुफ्र किया तो उसके कुफर का जरर उसी को है और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करती हैं ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला दे बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता और उसी की निशानियों में से है कि वो हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं ताकि तुमको अपनी रहमत के मजे चखाए और ताकि उसके हुक्म से कश्तियां चलें और ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलब करो और ताकि तुम शुक्र करो और हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे तो वो उनके पास निशानियां लेकर आए सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी अल्लाह ही तो है जो हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उभारती हैं फिर अल्लाह उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता और तह बतह कर देता है फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो उसी वक्त वो खुश हो जाती हैं जबकि वो उसके बरसने से पहले यकीन नाउम्मीद हो रहे थे तो ऐ देखने वाले अल्लाह की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है और अगर हम ऐसी हवा भेजें कि वो उसके सबब खेती को देखें कि जर्द हो गई है तो उसके बाद वो नाशुक्री करने लग जाएं। तो तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जब वो पीट फेर कर लौट जाएं आवाज सुना सकते हो और न अंधों को उनकी गुमराही से निकालकर राह रास्त पर ला सकते हो तुम तो उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं सो वही फर्मा बरदार हैं अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तदा में कमजोर हालत में पैदा किया फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया वो जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब इल्म है साहिब कुदरत है और जिस रोज क्यामत बर्पा होगी गुनागार कस्में उठाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे थे इसी तरह वो औंधाए जाते थे और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो कहेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम क्यामत तक रहे हो और ये क्यामत ही का दिन है लेकिन तुमको इसका यकीन ही न था तो उस रोज जालिम लोगों को उनका उज्र कुछ फायदा न देगा और न उनसे तौबा कबूल की जाएगी और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है और अगर तुम इनके सामने कोई निशानी पेश करो तो ये काफिर कह देंगे कि तुम तो झूठे हो इसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते मोहर लगा देता है बस तुम जमे रहो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और देखो जो लोग यकीन नहीं रखते वो तुम्हें उखाड़ न दें शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अलिफ लाम मीम ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत वो जो नमाज की पाबंदी करते और जक़ात देते हैं और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रस्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है गोया उनको सुना ही नहीं जैसे उसके कानों में सिकल है तो उसको दर देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं हमेशा उनमें रहेंगे अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है हिकमत वाला है उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए और हमी ने आसमान से पानी नाजिल किया फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई ये तो अल्लाह की तखलीक है अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है लायक हमदो सना है और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा अल्लाह के साथ शिरक ना करना शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है और हमने इंसान को जिसे उसकी मां तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार दो बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने मां बाप का भी कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं तो उनका कहा ना मानना हां दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रस्ते पर चलना फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में अल्लाह उसको क्यामत के दिन ला मौजूद करेगा कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है खबरदार है बेटा नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाक़ हो उस पर सब्र करना बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं और तकबर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता और अपनी चाल में एहतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया भला अगरचे शैतान उनको दोजक के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक ना कर दे उनको हमारी तरफ लौट कर आना है फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने कह दो कि अल्लाह का शुक्र है लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है बेशक अल्लाह बेनियाज है लायक हमदो सना है और अगर यू हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी सियाही हो और उसके बाद सात समंदर और सियाही हो जाएं तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो बेशक अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है बेशक अल्लाह सुनने वाला है देखने वाला है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है हर एक एक वक्त मुकर्र तक चल रहा है और यह कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है यह इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है और जिस जिस को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है ग्रामी कदर है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है ना शुक्र है लोगो अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे अल्लाह ही को क्यामत का इल्म है और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अलिफ लाम मीम इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है नहीं बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया ताकि ये रस्ते पर चले अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको छह दिन में पैदा किया फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है फिर हर काम एक रोज जिसकी मकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक हजार बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है गालिब है बड़ा मेहरबान है वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई फिर उसको दुरुस्त किया फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्र किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनागार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि अय हमारे परवरदिगार हमने देख लिया और सुन लिया तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें बेशक हम यकीन करने वाले हैं और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा सो अब आग के मजे चखो इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्वीर करते हैं और गुरूर नहीं करते चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो दोनों बराबर नहीं हो सकते जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोजख है जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोजख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो और हम उनको क्यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे शायद वो हमारी तरफ लौट आए और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुतालिक शक में न होना और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरिया हिदायत बनाया था और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे बिलाशुबा शुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तलाफ करते थे कयामत के रोज फैसला कर देगा क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकाम में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया बेशक इसमें निशानियां हैं तो ये सुनते क्यों नहीं क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवा करते हैं फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं तो ये देखते क्यों नहीं और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो यह फैसला कब होगा कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो ये भी इंतजार कर रहे हैं शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए पैगंबर अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना बेशक अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही कारसास काफी है अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम मां कह बैठते हो तुम्हारी मां बनाया और न तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है मोमिनो मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुना नहीं लेकिन जो कसद दिली से करो उस पर मुआवजा है और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां लोगों की माए हैं और रिश्तेदार आपस में किताबुल्लाह की रूह से मुसलमानों और महाजिरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है मोमिनो अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह की नस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ए अहले यसरिब यहां तुम्हारे ठहरने का मकाम नहीं तो लौट चलो और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं हालांकि वो खुले नहीं थे वो तो सिर्फ भागना चाहते थे और अगर फौजें अतराफ मदीना से उन पर आ दाखिल हों फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे और उसके लिए बहुत कम तवक्फ करें हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी जरूर पुरसिश होगी कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे और ना मददगार अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम ये इसलिए कि तुमसे बुखल करते हैं फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जबानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुखल करें ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे तो अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए और ये अल्लाह को आसान था ये लोग खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश खाना बदोशों में जा रहे हैं और तुम्हारी खबर पूछा करें और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई ना करें मगर कम मुसलमानों तुमको अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी बेहतर है यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज क्यामत के आने की उम्मीद हो और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था और इससे उनका ईमान और इतात और ज्यादा हो गई मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी यानी जान दे दी और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया वो अपने गुस्से में भरे हुए थे कुछ भलाई हासिल न कर सके और अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में काफी हो गया और अल्लाह जोरावर है गालिब है और उसने अहले किताब में से जिन लोगों ने उनकी यानी मक्के वालों की मदद की थी उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी तो बास को तुम कत्ल कर देते थे और बास को कैद कर लेते थे और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके माल का और उस जमीन का जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था उसने तुमको वारिस बना दिया और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है ए पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत आरइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर और आकेबत के घर यानी बहिश्त की तलबगार हो तो तुम में जो नेकूकार हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तैयार कर रखा है ए पैगंबर की बीवियों तुम में से जो कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दूनी सजा दी जाएगी और यह बात अल्लाह को आसान है और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है ए पैगंबर की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नर्म लहजे में बात न करो ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में जेब जीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार जीनत न करो और नमाज पढ़ती रहो और जक़ात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो ए पैगंबर की घर वालियों अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो बेशक अल्लाह बारीक बी है बाखबर है जो लोग अल्लाह के आगे सरे इतात खम करने वाले हैं यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया